अशोकन ने उस टाइम के सारे इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करते हुए कहा उसके मोबाइल की स्क्रीन लाइट जल रहा था और ठीक उसी टाइम उसका फोन में एक व्हाट्सअप मैसेज आया हुआ था चूंकि उसका फोन का लॉक खुला हुआ था तो मैं उसका मैसेज पढ़ने लग गया इंस्पेक्टर अशोकन ने एक गहरी सांस खींचते हुए मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग मैसेज था विक्रांत सर जो कह रहा था वो सही था मुझे दयाकर का फोन से पता चला कि वो फिल्म क्रू के लोगों के बीच फेक मेंबर बनकर रह रहा था उसको फिल्म वगैरह से कोई मतलब नहीं था वो उन लोगों का साथ बस इसलिए रह रहा था कि ताकि वो फिल्म क्रू के भीतर की न्यूज को न्यूज एजेंसी वालों को भेजकर अपनी कमाई कर सके वो साला फिर से काम करना चाहता था इंस्पेक्टर अशोकन ने फिर बेहद एक्साइटेड होते हुए आगे कहा चूँकी वो निरूपा के साथ रिलेशनशिप में था इसलिए वो जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से निरूपा से ही था यहाँ तक कि उसका फ़ोन में जो इन्फॉर्मेशन था उसमें भी उन लोगों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन थी जिसने कभी निरूपा को परेशान किया था इसके बाद अशोकन ने एक और कश लेते हुए कहा दयाकर का फ़ोन में जो इन्फॉर्मेशन था वो काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन था उसमें काफ़ी सारा फोटो और वीडियो भी इंक्लूड था फोन का वीडियो देखकर मुझे पता लगी कि दयाकर के पास जो फाइल था वो सब कैमरामैन अनिकेत का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था वो सब उसका यूएसबी ड्राइव में था इसके बाद अशोकन ने और भी बातें याद करते हुए कहा उस वक्त दयाकर अपना काम खत्म कर चुकी थी उसके बाद उसके पास न्यूज एजेंसी वालों को सीक्रेट न्यूज देने के लिए काफी सारा मैटर कलेक्ट हो गई थी और वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था ऊपर से उसका हाथ में अनिकेत का यूएस भी लग गया था जिसमें फिल्म एक्ट्रेस का सीक्रेट वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था सब गंदा गंदा वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था वो लोग दयाकर तो खुद ही अपना काम करके उधर से भाग रही थी लेकिन बीच में ही वो मुझसे भिड़ गया जिस वजह से मुझे उसको मारना पड़ा इसके बाद अशोका ने सिगरेट के धुएं से छल्ला बनाते हुए कहा मैं आप लोगों को बता रहा है इस केस में बहुत सारा इत्तेफाक है और पता है आप लोगों को उस रात मेरे साथ एक के बाद एक कई सारा इत्तेफाक हुआ था और फिर जब अशोकन अपनी कहानी के इतने क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुका था तब अनुष्का ने उत्साहित होते हुए कुछ सवाल किया दरअसल अनुष्का ये जानना चाहती थी कि कहीं अशोकन ने सिर्फ दयाकर का फोन देखने की वजह से एक के बाद एक का खून कर दिया नहीं अशोकन तुरंत ही अनुष्का के मन की बात समझ चुका था सो उसने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया इसके बाद उसने कहा अभी मैं किसी और को नहीं मारना चाहता था भले ही मुझे पूरे फिल्म क्रू वालों के बारे में सब कुछ पता चल चुका था लेकिन तब भी मैं किसी को मारना नहीं चाहता था प्रसाद प्रसाद विक्रांत फिर से शोकन की तरफ देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाने लगा फिर फिर क्यों मारा अनुष्का ने फिर से सवाल किया पता नहीं अशोकन ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा दयाकर पहले ही मर चुकी थी मुझे उसका उतना टेंशन नहीं था लेकिन अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुई थी अभी भी मुझे वो सारा वीडियो एविडेंस वगैरह डिस्ट्रॉय करनी थी इसी वजह से मैं दोबारा लौटकर टेंट में गई मैं अपने साथ दयाकर की डेड बॉडी को भी लेकर जा रही थी मैं चाहता था कि पहले मैं सारा वीडियो क्लिप डिटेट कर दूं उसके बाद मैं दयाकर की बॉडी को ले जाकर बोर्ड से कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगा देगा अशोकन अब तक काफी भावनाओं में बह चुका था लेकिन तभी एक और एक्सीडेंट हुआ फिर जब मैं दयाकर की डेड बॉडी लेकर टेंट की तरफ जा रहा था तभी वो प्रसाद प्रसाद मुझे मिल गई वो टेंट के बाहर टॉयलेट कर रहा था हाँ ये हुई ना बात विक्रांत ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए और फिर अशोकन की तरफ इशारा करके उसे अंगूठा दिखा दिया मैं प्रसाद को ज्यादा जानता भी नहीं था अशोकन ने कहा जब अशोक ने कहा तब प्रसाद ने मुझे देखा तो फिर वो तेजी से भागता हुआ बोट की तरफ जाने लगा फिर मैं उसको देखकर भी डर गई थी अगर ये यहाँ से बचकर भाग गया तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा उसने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर मैंने तुरंत ही दयाकर की डेड बॉडी को नीचे रख दिया और प्रसाद के पीछे भागने लगा मैंने दयाकर का बैग पहले ही चेक की थी मुझे उसके बैग में से सिग्नल गन मिला हुआ था फिर मैंने उसी सिग्नल गन से प्रसाद के ऊपर अटैक करके उसे आग से जला दिया